फिर जब हम उनसे अजाब हटा देते एक मुद्दत तक के लिए जिसको वो पहुंचने वाले होते तब वो अहद तोड़ देते